और लूत ने उन लोगों को हमारी पकड़ से डराया था लेकिन वो सारी तंबीहात में मीन मेख निकालते रहे